सांस रोकी सब नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बीएस मेमोरियल स्कूल में पहुंचे हैं जहां पर बच्चे ऑडिशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और एक एक करके बच्चे अपनी आवाज़ के ज़रिए आपको गाना सुनाएंगे और मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे की आवाज़ आपको अच्छी लगे उसका नाम लिखिए और सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुनाए हैं radio Madhuban ninety point radio Madhuban की टीम की ओर से सभी बच्चे जो ऑडिशन में भाग ले रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं good morning my name is Paras Mali and I am from class eight from the school B S M S and my song name is चले आना जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना कभी मैं याद आऊँ तो चले आना चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊँगा ये बातें दिल में ना लाना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये बातें दिल में ना लाना कभी मैं याद आऊँ तो चले आना चले आना था कौन मेरा एक तू ही था सांसों से ज़्यादा जो ज़रूरी था रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे तुम्हारा था रहेगा भी तुम्हारा था रहेगा भी क्या करे दिल है दीवाना थैंक यू नमस्कार दोस्तों तो आज मैं आपके साथ मेरा नाम दिव्य ज्योतिकर है मैं बीएस मेमोरियल में पढ़ता हूँ और मैं आज आपके सबके सामने किशोर कुमार जी का अकेला गया था मैं गाना प्रस्तुत करना चाहता हूँ अकेला गया आया के मेरे संग संग संग संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं हाँ मैं न आया अकेला मेरे संग संग संग संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग संग संग संग आया तेरी यादों का मेला अकेला गया था मैं हाँ मैं तेरी गली से तेरी गली से मैं जब निकला सब कुछ देखा बदला बदला तेरी गली से मैं जब निकला सब कुछ देखा बदला बदला जैसा अब है वैसा कब था ये मौसम मलबिला आ, आ, आ, मेरे संग संग संग संग संग आया तेरी यादों का मेला मेरे संग संग संग संग संग आया तेरी यादों का मेला thank you you. My name is Akash Rajpret. I am from class 8th A. My song name is तुझे कितना छाने लगे हम दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी ज़रूरत तू बन गया बात दिल की नजरों ने की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे ख़त्म तुझे कितना चाहने लगे हम थैंक यू नाम है Danish Qureshi I am for class eighth B and my song is है सुना है पूरी धरती है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले अगर मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू है खुदा ए कहाँ रे तू ए सुना तू भटके मन को राह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू ए खुदा ए कहाँ रे तू मैं पूजा करूं या नमाज पढ़ूं और तासे करूं दिन रे न तो मंजिल मिले न तो फिर जे मिले तुझे ढूंढे थके मेरे ने तुझे ढूंढे थके मेरे ने तुझे ढूंढे थके मेरे ने जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ भगवान है कहाँ रे तू ए खुदा ए कहाँ रे तू thank you so much good afternoon respected जजेस my teachers and all my dear friends my sir Dushyant Singh Chauhan and I am gonna sing a song ए गुजरने वाली हवा ये गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे हुँ हुँ हुँ। उस गांव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिल रुबा उसे उसके प्यार का जाम दे उसे मेरे प्यार का नाम दे हुँ हम्म, हुँ। हम्म, हम्म। वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे मैं वापस आऊँगा मैं एक दिन आऊँगा वो बहती नदियों से गांव के पीपल से वो झूमती बेलों से जो वादा किया है वो मैं निभाऊँगा ओ ओ ओ ओ ओ मैं वापस आऊँगा thank you Good afternoon, myself Gogda Nurma from class 8B and my song is Kalang. हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे तू बरखा मेरी मैं तेरा पागल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी મેલી હે ઇકરાંજા ઓર હીર જેસી ન જાને યે જમાના ક્યુ ઝાહરે મિટാനാ કલંગ નહી ઇશ્ક હે કાજલ પિયા દુનિયા કી નઝરો મે યે રોગ હે हो जिनको वो जाने ये जोग है एक तरफा शायद हो दिल का भरम दो तरफा मेरा ये संजोग है लाई रे हम जिंदगानी की कहानी कैसे मोड़ पे हुए रे खुद से पर आए हम किसी पे नैना जोड़ के हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया कलंक नहीं इश्क है काजल पिया thank you My name is Gogda Aliraj. I am from class 8B. My song is तेरी मिट्टी में तलवारों पे सरवार दिए अंगारों ने ये जिस्म जलाया है तब जाके कही सर पे ये केसरी रंग सजाया है ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू ओ ओ ओ, ओ, ओ मस्ती रहे क्यों आंख गड़ी पर नम ना मैं मरता था जिस मुकड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं ये चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू thank you Good afternoon, all of you. My name is Patel Pragati and I am from class 9th A, and my song is Tera Zikr. अभी अभी तो मिले थे फिर जु फिर जुदा हो गए क्या थी तेरी खता जो सज़ा हो गए तुम्हें खोने के बाद के दिन तुम मुझे याद करोगे फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे मुझे खोने के बाद के दिन तुम मुझे याद करोगे फिर देखना मिलेगी मुझसे तुम फरियाद करोगे मुलाकातें अधूरी रही मुकम्मल करूँगा ये वादा रहा तन्हाइयों से भी मैं तेरी बातें करूँगा ये वादा रहा तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं मेरे रब पे ऐसी दुआ ना हो बाखुदा मुझे खोने के बाद के दिन तुम मुझे याद करोगे फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे थैंक यू सब Good, good afternoon, all of you. My name is Maruf and I am from class 9B and my song is तुझे कितना चाहने लगे हम दिल का दरिया दही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी ज़रूरत तू बन गया बात दिल की नजरों ने की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिन अब न रहेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे कदम तुझे कितना चाहने लगे हम thank you good afternoon all of you my name is Roshni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 मेरा ओ हम नवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा thank you Good afternoon, everyone. My name is Purvi, and today I am from class 10th and today I am going to sing a song ए जिंदगी ए जिंदगी कर लगा ले ऐ जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है है ना ए जिंदगी गले लगा ले ए जिंदगी गले लगा ले हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ए जिंदगी गले लगा ले ए जिंदगी गले लगा ले thank you good morning all my good morning respected जजेस and all my dear friends and all teachers my name is Ekansh Goyal and I am from class tenth and my song is मैं तेनू समझावा मैं तेनू समझावा की मैं तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मैं करूँ इंतजार तेरा तू तो दिल तू तो यूं जान मेरी जान मेरी मैं तेनू समझा कि मैं तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार तो दिल तो यूं जा मेरी जान मेरी thank you My name is Sia Dilshaz and I'm from class 9th. My song is Te Samne Aa Jaane Se. तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है ये गलती नहीं है तेरी कसूर नजर का है जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा तुमको मैं चुरा लूँगा तुमसे ही दिल में छुपा लूँगा तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा तुम देखते ही मर जाएंगे ये नहीं था सोचा बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा तुमको मैं चुरा लूँगा तुमसे ही दिल में छुपा लूँगा thank you good afternoon everyone my name is Divya Sharma and today I am going to sing बेख्याली बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी हिस्से में फासले भी मेरे बेमिसाल आए ये जो लोग बाग हैं जंगल की आग है क्यों आग में जलूं ये नाकाम प्यार में खुश है जो हार में इन जैसा क्यों बनूं है ये तड़पन है ये उलझन कैसे जिलू बिना तेरे मेरी अब सब से है अनबन बनते क्यों ये खुदा मेरे ओ, ओ, ओ, ओ ये जो लोग बाग है जंगल की आग है क्यों आग में जलूं ये नाकाम प्यार में खुश है जहार में जैसा क्यों बनूं बेखयाली में भी तेरा ही ख्याल आए क्यों जुदाई दे गया तू ये सवाल आए ओ good afternoon everyone myself Panchal Kamal of class tenth B and my song is बुला दिया बाय दर्शन रावल तेरी आंखों की गहराई में समा गए है हजारों गम जो इनमें मिला है सुकून मुझे कहीं नहीं है खुदा कसम तेरी निगाहों ने जाना मुझको नसीब मेरा दिखा दिया हर एक मंजिल से मेरी मुझको बस एक लम्हे में मिला दिया हो मैंने इश्क की हर गली को सजा दिया तेरे नाम से मैंने खुद को भुला दिया बुला दिया हो मैंने इश्क की हर गली को सजा दिया तेरे नाम से मैंने खुद को भुला दिया भुला दिया thank you Good afternoon, everyone. My name is Vishaka Singh Rathore from Standard 10th B. Today I am going to sing मैं चली मैं चली मैंने हाँ क्या कहा दिल मेरा खो गया आशिकों की गली में अजब हो गया दिन संग गुजरी रातें भी मेरा चैन खो गया चलो माना मुझे प्यार तगड़ा यार हो गया मैं चली मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली मैं चली हाँ हा हा मेरी जा मुझे जाना है वहाँ मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ मैं चली मैं चली कोई खेल तो नहीं ये है प्यार मेरी जान मुझे पता ना चला कैसे कब ये हो गया सारे सोशल मीडिया तेनी सड्डा चर्चा हो गया वैलेंटाइंस डे करके नी तेरा खर्चा हो गया मैं चली मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली मैं चली हाँ हाँ हाँ मेरी जा मुझे जाना है वहाँ मेरा प्यार हो जहाँ वही मेरा जहाँ थैंक यू नमस्कार गुरुजनों तथा समस्त मित्रों मेरा नाम हितेंद्र सिंह है और आज मैं गाने जा रहा हूँ जानिसार ना मारेगी दीवानगी मेरी ना मारेगी आवारेगी मेरी के मारेगी ज़्यादा मुझे मौत से नाराज़गी तेरी क्यों इतना हुआ है तू खफा है जिद किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार जान सार है हम्म। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं तुझसे ही यारी है हमारी एक बार तो आ मैंने निभाया है करके दिखाया है ले तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा तू भी प्यार निभा ओ यारा thank you Good afternoon to one and all present here. My name is Aryan and I'm today going to sing Ghumar which has been sung by Shreya Ghoshal from the film Padmavat. रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए तादिय नदीम निरताना दे रे नोम तादिय नदीम निरताना दे रे नोम तादिय नदीम रघुवर तेरी राह रघुवर तेरी राह निहारी सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया आओ पधारो पिया दीम द दीम तना धीरे ना दीम द दीम तना धीरे ना धनी समा स ग म द नि द ग म प ग म प सा सा ग म प नि नि ग म प नि द प प म रे ग म द प रे म प द म प नि नि द नि द प प म रे स नि स रे रे ग म प द प म प म नि नि नि स नि द नि द नि द प द नि द प प म रे स रे ग नि स रे रे ग ना तो मैया की लोरी ना है फागुन की होरी मोहे कुछ दूसरा ना भाए रे जब से नैन आए जाके इक धनुर्धर से लागे जब से बिरहम मोहे सदाए रे दुविधा मेरी सब जग जाने जाने ना निर्मोहिया घर मोरे परदेसिया आओ पथारो पिया ता धिन तर धिन ता धिन तांग ता थार थुन थी हा गई पन घट पर भरन भरन पनिया दीवानी गई पन घट पर भरन भरन पनिया हा निसा नि सरे रे प मरे सरे गरे रे मम निसा नि सरे रे प मरे सरे रे गम गम बम रे म प मरे सरे गरे रे मम निसा नि सरे रे बम रे सरे गरे रे मम good afternoon everyone my name is Parth Sharma and I am singing song चलवा जाते आसमां के परे एक जहां है कहीं झूठ सच का जहां कायदा ही नहीं रोशनी में वहाँ की अलग नूर है साए जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं जाते हैं जाते हैं चल वहाँ जाते हैं चल वहाँ जाते हैं प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं चल वहाँ जाते हैं चल वहाँ जाते हैं प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना हो सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना तुम मेरी धड़कनों की सुनो ओ, ओ, चल वहाँ जाते हैं चल वहाँ जाते हैं प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं चल वहाँ जाते हैं चल वहाँ जाते हैं प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं thank you good afternoon all of you myself Hemang Rathore I am from B S memorial school and my class is tenth and I am the singing song of Asha Bhosle ji and the song is इन आँखों की मस्ताने इन आँखों की मस्ती इन आँखों की मस्ती में मस्तान हजारों में मस्तान हजारों में इन आँखों के वाबस्ते इन आँखों के वाबस्ते अफसाने हज़ारों में अफसाने हज़ारों में इन आँखों की मस्ती इन आँखों की मस्ती thank you good afternoon everyone my dear teachers and जजेस and my friends myself Mehul Kumar from class eleventh है माई सॉन्ग इज मेरी माँ जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो अख तेरी भी तो भर आती थी एक छोटी सी फूक से तेरी सभी दर्द में रहते थे गम आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो याद आती हो तुम माँ मेरी माँ मेरी माँ माँ तेरे हाथों की अक्सर रोटी तो भूख से ज़्यादा खा लेता था तेरा हिस्सा हूँ तेरा किस्सा हूँ जो सबको सुनाती हो तुम आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो याद आती हो तुम माँ मेरी माँ मेरी माँ thank you Good morning, one and all. Present here. Myself, Sahil Khareo, class 11th commerce, is here to present the song Hasi Ban Gaye. हाँ, हाँ, हाँ, तेरे नाम हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी ज़मी बन गए हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी ज़मी बन गए ओ Ah. पहचानते ही नहीं अब लोग तनहा मुझे तेरी निगाहों में भी अब खोजते हैं मुझे पहचानते ही नहीं अब लोग तनहा मुझे मेरी निगाहों में भी अब खोजते हैं तुझे हम थे खोजते जिसे वो कहीं घूम गए तुम मेरे तेरे इश्क की सारी जमी बन गए हाँ हसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए ओ हाँ तेरे नाम thank you Good morning, all of you. My name is Arsan, and I am from class 11th science. And today's my song is "उड़े जब जब जुल्फे तेरी उड़े जब जब जुल्फे तेरी उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी ये जब ऐसे चिकने चेहरे ओ जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नज़र फिसले तो कैसे ना नज़र फिसले जिंद मेरी ये वो तेरी चाल है नागन जैसी वो तेरी चाल है नागन जैसी रे जोगी तुझे ले जाएंगे रे जोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये तुझे चांद के बहाने देखूं तुझे चांद के बहाने देखूं हो तुझे चांद के बहाने देखूं तुझे चांद के बहाने देखूं तो छत पर आजा गोरिए तो छत पर आजा गोरिए जिंद मेरी ये जब ऐसे चिकने चेहरे आ जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नज़र फिसले तो कैसे ना नज़र फिसले जिंद मेरी ये उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी आ उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी तो कैसे ना नज़र फिसले तो कैसे ना नजर फिसले चिंत मेरी ये thank you Good afternoon, everyone. My name is Rapuja, and I am from 11th B, and my song name is Lag Ja Gale. Lag Ja Gale, के फिर ये हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से जी भर के देख ले मुझे अब तो करीब से फिर आपके नसीब में ये हसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से thank you good afternoon everyone my name is Harsh Kar and today I am going to sing a song कभी कभी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ओम शांति मेरा नाम विनायक राजौरिया है और मैं क्लास ट्वेल्थ ए का स्टूडेंट हूँ और मैं आज गाने वाला हूँ गर्मी दी तू गर्मी दी तू गर्मी दी तू छावा मरगी गर्मी दी तू गर्मी दी तू गर्मी दी तू छावा मरगे गर्मी दी तू जिंदगी मेरी जिंदगी नासी जुड़ गई जो तेरे ज मेरी रू गर्मी दी तू गर्मी दी तू छावा मर गए गर्मी दी तू मिल गई है वजह मेरी आसानू पूरी तू कर गई मेरी दुआवानू मिल गई है वजह मेरी आसानू पूरी तू कर गई मेरी दुआवानू मिल गई है वजह मेरी आसानू पूरी तू कर गई मेरी दुआवानू thank you Good afternoon, everyone. I am uh, Neha Aswani from 12th Commerce. Now I am going to sing Barish Lete Aana. Aate ho तो barish lete aana Ji bhar ke rone ka dil karta hai रहती है ये ख्वाहिश होठों पर ही जब भी ये दिल मेरा जो भरता है कुछ खाब है लिखे खतों में तुमको सौंप दूं इस दर्द की जमीन पे मैं खुद को रोप दूं हम्म, तू बारिश लेते आना जी भर के रोने का दिल करता है रहती है ये ख्वाहिश होठों पर ही जब भी दिल मेरा जो भरता है कुछ चल रहा है आस पास और है कुछ थमा गम बह रहा है साथ साथ और है कुछ जमा हाँ हाँ हाँ thank you My song name is Khwaja. My name is Divya Jyoti. I am from class 8A. My school name is BS Memorial School. My song name is Khwaja. Khwaja ji Khwaja Khwaja ji Khwaja ji या गरीब नवाज या गरीब नवाज या ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा साहे सलाकू अली दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा साहे सलाकू अली दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा बेकसूर की तकदीर तूने है सवारी तूने है सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा तेरे दरबार में है ख्वाजा नूर तो है तेरा आ, आ, आ, तेरे दरबार में है ख्वाजा सर झुकाते हैं ओलिया तू है हम दम दमे ख्वाजा रुतबा है प्यारा चाहने से तुझको ए ख्वाजा जी मुस्तफ़ा को पाया ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा साहे सलाकू अली दादुल्लारा थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एम अभी आपने सुना बहुत ही खूबसूरत ऑडिशन और सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया गानों का आशा करता हूँ आपको एक से बढ़कर एक आवाज़ सुनने को मिला होगा और जो भी बच्चे की आवाज़ आपके दिल को स्पर्श किया हो तो ज़रूर उस नाम के लिए उस बच्चे के लिए उसका नाम लिख कर सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा तो चलिए फिर मिलते हैं फाइनल राउंड में देखते हैं कौन बच्चे इसमें से फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं फिर से एक बार सभी बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो